परब्रह्म अपर ब्रह्म प्राप्ति दोनों का साधन ओंकार कहा गया परब्रह्म ज्ञेय अपर ब्रह्म ध्येय उपास्य ओंकार आलंबन के द्वारा उपासना करने के लिए ओंकार आलंबन है प्रतीक है और वाचक है पर ब्रह्म के लिए ओंकार का अर्थ ही महावाक्य का अर्थ एक होता है अ म तीनों का अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म है वो अद्वितीय है उसको जानने के लिए ओंकार अर्थ चिंतन से ही ज्ञान होगा तो ये दोनों परब्रह्म अपरब्रह्म प्राप्ति का साधन ओंकार कहा गया आगे टीका में साधन हीनाय उपदेशो अनर्थक इति मत्तु उच्चावचम अवगति साधन वक्तव्य स्वरूपम यत्पृष्टम तद अभिधानाय उपक्रमत इत्याह साधन हीनाय उपदेश अनर्थक जिसके पास साधन है ही नहीं साधन संपत्ति नहीं वेदांत श्रवण करने के लिए साधन चतुष्टय संपन्न ही अधिकारी होता है अन्य साधन अंतकोण शुद्धि जिज्ञासा नहीं तो उपदेश अनर्थक इसलिए पहले विभिन्न प्रकार साधन कहा गया ध्यान करने के लिए कहा गया उच्चावचम अवगति साधनम उच्चावचम उदक्ष वाक्स उच्चावचम अनेक प्रकार मयूर वंश का आदेश से समास होता है उच्चावचम तो अनेक प्रकार अवगति साधनम ज्ञान का साधनम बहुत प्रकार कहा गया परब्रह्म परब्रह्म का उपासना कहा गया वक्तव्य स्वरूपम यत पृष्ठम जो कहने के लिए पूछा गया था पहले आत्मा के विषय में संशय का पूछा था उसी को भी आगे कहा अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात जो पूछा उसको कहने के लिए अभिधान है कथन करने के लिए आरंभ करते हैं अन्यत्र धर्माद इत्यादि नाम भाष्य में अन्यत्र धर्माद इत्यादि नाम पृष्ठस्य आत्मनो अशेष विशेष रहितस्य आल आलंबनत्वेन प्रतीकत्वेन च ओंकारो निर्दिष्ट अन्यत्र धर्माद इत्यादि ना अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्मात इस मंत्र के द्वारा पृष्ठ से आत्मनो अशेष विशेष रहित पृष्ठ है आत्मा प्रश्न का विषय आत्मा ही है जो पहले यम प्रेत विचिकित्सा अस्तित्व के कह करके मरने के बाद आत्मा है नहीं है संशय ये प्रचार गया था उसको ही प्रश्न पूछा आगे अभी बाद में धर अन्यत्र धर्मात अन्यत्र धर्मात जो पूछा गया आत्मतत्व तत्व उसको ही उपदेश करना है अशेष विशेष रहितस्य आत्मा निर्विशेष है सारे विशेष रहित अशेष विशेष रहित विशेष रहित कहेंगे तो कोई एक दो चार दस विशेष कम नहीं रहा किंतु नहीं था अशेष विशेष रहित कौन से कोई भी विशेष नहीं है निर्विशेष है उसका न प्रतीकत्व न ओंकार निर्दिष्ट उसका आलंबन और प्रतीक आलम्बन कौन से आश्रय वाचक होने से ध्यान का आश्रय होता है और प्रतीक है ध्यान प्रति अधिकरण तो आश्रय और प्रतीक है ओंकार कहा गया अपरस्य च ब्रह्मण मंद मध्यम प्रतिपत्रेन प्रति अपर ब्रह्म का ध्यान साधन कहा गया मंद अधिकारी मध्यम अधिकारी के लिए मुख्य अधिकारी के लिए तो श्रवण से ज्ञान होगा मंद मध्यम अधिकारी के प्रति उपासना कहा गया अथ इदानीं तस्य ओंकार आलंबन से आत्मन साक्षात स्वरूप निर्दिधारयिषये इदम उच्यते अब अथ का साधन निरूपण के बाद साधन उपासना कहने के बाद अभी रहे तस्य ओंकार आलंबनस्य से ओंकार रूप जो ओंकार आलंबनस्य से ओंकार का आलंबन ओंकार आलंबनम यस्य ओंकार उपाधिक ओंकार आलंबनस्य से आत्मन ओंकार है आलंबन जिसका ओंकार को आश्रय करके ओंकार उपाधि अर्थ है ओंकार उपाधि का आत्मा साक्षात स्वरूप निर्दिधारयस्य साक्षात कौन से उपाधि का छोड़ करके निरुपाधिक ओंकार उपाधि का आत्मा कहा गया था साक्षात कहेंगे उपाधि अंतर्भाव नहीं करके उपाधि को छोड़ करके साक्षात स्वरूप निर्धारितुम इच्छा निर्दिधारयसा निश्चय करने की इच्छा से आगे कहते इदम उच्यते न जायते म्रियते वा विपश्चिन नायम कुतश्चिन अबभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे ये मंत्र को गीता में भी लिया थोड़े अक्षर भेद करके न जायते मिरियते वा विपश्चित यहाँ है वहाँ न जायते मिरियते कदाचित न जायते मिरियते वा कदाचित नायम भूता भविता वा न भूय आगे बराबर है अजो नित्य शाश्वत एवं पुराण न हन्यते हनुमान हन्य माने शरीर द्वितीय अध्याय में आया न जायते म्रियते न जन्म होता न तो मरता है यहाँ विपश्चित का विद्वान कोई भी आत्मा जन्म वर्ण रहित है नायम कुतश्चि न बभुव कश्चित कुतश्चित न बभुव कुछ भी उत्पन्न होता ऐसा नहीं आत्मा अजन्म है नित्य शाश्वतोयम पुराण नित्य शाश्वत पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर शरीर का हनन होने पर भी आत्मा का हनन नहीं होता है न जायते कासनोत्पद्यते मिर्यते वा न मिर्यते च उत्पत्तिमतो वस्तुनो अनित्यस्य अनेक विक्रिया तासाम आद्यन्ते जन्म विनाश लक्षणे विक्रिय यह आत्मनि प्रतिसिद्धयते प्रथमम सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम न जायते मृत्यवेति न जायते न उत्पद्यते मिर्यते वा न मिर्यते च उत्पत्ति मतो वस्तु न अनित्यस्य उत्पत्ति वाले जो वस्तु है जिसकी उत्पत्ति होती है वो तो अनित्य है उत्पत्ति के पहले नहीं था उत्पत्ति के पहले उसका अभाव था उसको कहते प्राग भाव जिसका अभाव था पहले उत्पत्ति के पहले उसको कहते प्राग भाव का प्रतियोगी घट की उत्पत्ति के पहले घट नहीं था घट का अभाव था वो घट प्रागवाह का प्रतिवि घट होता है वो अनित्य होता है तर्क में लक्षण कहते प्रागवाह प्रतियोगितम ध्वंस प्रतिवितम व अनित्य का लक्षण है तो उत्पत्ति वाले वस्तु अनित्य है अनेक वस्तु अनित्य वस्तु में अनेक विक्रिया अनेक विक्रिया है सारे भाव पदार्थ में उत्पत्ति वाले में अनेक छह प्रकार विक्रिया है जायते अस्ति वर्धते अपक्षयते परिणमते विनश्यति इसी प्रकार छह विकार तासम आद्यन्ते पहले जायते अंत में विनाश दोनों जन्म विनाश लक्षणे जन्म च विनाशस्य जन्म विनाशो लक्षणं स्वरूपं ययो आद्यन्ते दो विक्रिया जन्म विनाश लक्षणे एक जन्म स्वरूप एक विनाश स्वरूप दो विक्रिया विक्रिये यह आत्मनि दो विक्रिया का आत्मा में प्रतिषेध किया गया प्रथमम पहले दोनों का प्रतिषेध किस लिए किया गया सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम सारे छह विकार का प्रतिषेध करने के लिए आदि अंत दोनों का निषेध कर दिया तो आदि विक्रिया नहीं तो मध्यवर्ती नहीं अंत भी नहीं तो आदि अंत का निषेध करने से मध्यवर्ती का भी निषेध हो जाता है सारे विक्रिया प्रतिषेध करने के लिए न जाए तो मृत्युवा कह दिया विपचित का तो विद्वान मेधावी मेधावी कौन से ज्ञान आत्मा गुण गुणी संबंध है मेधा वाला तो आत्मा है गुणी है मेधा ज्ञान गुण गुण गुणी भाव हो जाएगा इसलिए कहते अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वात् अविपरिलुप्त चैतन्य ये चैतन्य का लोप नहीं होता नित्य वो स्वभाव है आत्मा इसे उसको मेधावी शब्द से कहा हुई ज्ञान स्वरूप है किंच नायमात्मा कुतश्चित न बभू कश्चित नायात्मा कुतश्चित कारणांतराद बभू अन्य किसी कारण से उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं है उसका कोई कारण नहीं है अन्य कारण से नहीं हुआ तो अपने आप हुआ ये भी नहीं सस्माच आत्मन न बभुव कश्चित अर्थांतरभूत स्वयं तो अपने से नहीं होगा और आत्मा से कोई दूसरा उत्पन्न हुआ वो भी नहीं न कश्चित बभुव आत्मा से कोई दूसरा उत्पन्न हुआ वो भी नहीं है आत्मा कार्य नहीं कारण भी नहीं है जगत कारण जब ब्रह्म को कहते हो तो माया से वास्तव कारण नहीं है माई का कारण शुद्ध में कारणत्व भी नहीं है कारणत्व भी कल्पित है कार्य मिथ्या है तो कारण कैसे कारणत्व कैसे होगा माया से कारण कहा जाता है इसलिए शुद्ध ब्रह्म किसी का कारण कार्य नहीं किसी का कारण भी नहीं आत्मन न बभुव कश्चित अर्थांतरभूत आत्मा से कोई अन्य हुआ ऐसा नहीं है देहादि दूसरा कोई उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं है देहादि से भिन्न आत्मा है ऐसा आत्मा कुछ उत्पन्न होता ऐसा नहीं होता है अतो अयम आत्मा अजो नित्यः शाश्वतो अपक्षय वर्जित विवर्जित आत्मा अज है अजन्मा नित्य हुआ और शाश्वत कहने से हमेशा रहता है तो अपक्षय वर्जित कहा शाश्वत कह करके अपक्ष वर्जित अपक्षय रहित यो ही अशाश्वत सो अपक्षयते जो अशाश्वत शाश्वत नहीं नित्य है उसका अपक्षय होगा विपरिणाम होगा तो शाश्वत कह देने से ना तो अपक्षय है ना तो परिणाम है अयम तो हो अतएव पुराण पुरापि नवैव इति पुराण ये शाश्वत है इसलिए पुराण पूरा पुराना होने पर भी नया उसमें कभी भी परिणाम नहीं होता है क्षय नहीं होता है तो नया जो बहुत दिन का हो जाता है पटवी उसमें बहुत दिन हो गया तो पुराना हो जाता है पुराना मतलब क्या अपक्षय होता है कुछ परिणाम हो जाता है क्षय हो जाता है पट में दीवार बड़े-बड़े मजबूत दीवार वो भी धीरे-धीरे उसमें क्षय होता है दुर्बल हो जाता है किंतु यह आत्म तत्व पुराना है अनादि नित्य अनादि काल से तो भी हमेशा नय नव नया है अर्थात कुछ उसमें परिणाम अपक्षय कुछ नहीं होता है वैसे एक नित्य एक रूप है पुरापि नव एव नया ही है यो हि अवयव उपचय द्वारा न अभिनिवर्त्यते सैदानि नवो यथा कुंभादि तद विपरीतस्तु आत्मा पुराणो वृद्धि विवर्जित तत यो हि अवयव उपचय द्वारा न अवयव की वृद्धि अवयव मिला करके अभिनिष्पर अभिनिर्वर्त्यते निष्पादन किया जाता है मिट्टी से घट बनाते हैं अवयव बना करके कपाल जोड़ करके घट बनाते हैं तंतु मिला कर बहुत तंतु मिला करके पट बनाते हैं अवयव वृद्धि के द्वारा निष्पादन किया जाता है स इदानी नव उसको नया कहते यथा कुंभ आदि कुंभ घट हो पट हो नया बनाया नया नव कहा जाता है तद विपरीतस्तु आत्मा उसे विपरीत से उसको पुराण कहा कि नया होता है अवयव द्वारा बनाएंगे तो नया होगा आत्मा इसी प्रकार अवयव मिलाकर बनाते ऐसा नहीं इसलिए विपरीत होने से नव नहीं कहकर पुराण का अर्थात नव होगा तो अवयव वृद्धि के द्वारा बनेगा पुराण कह देने से वृद्धि विवर्जित पुराण से वृद्धि रूप वर्धते जायते अस्ति वर्धते वृद्धि रूप परिणाम का निषेध कर दिया यत एवं अतो न हन्यते हन्यमाने शरीर यत एवं जन्मादि धर्म शरीर का आत्मा में है ही नहीं इसलिए न हन्यते आत्मा का हनन नहीं होता यहाँ जो विनाश का निषेध हो गया फिर न हन्यते कहने का यह अर्थ विपरिणाम नहीं होता है न हन्यते विपरिणाम न विपरिणामते विपरिणाम रूप विक्रिया का निषेध न हिंस्यते इसकी हिंसा नहीं होती अन्य माने शरीर शरीर का तो हनन हो जाता है शस्त्र आदि भी शस्त्र से हनन होता है किस प्रकार शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है विपरिणाम नहीं होता है नित्य एक रूप तस्थोपि तस्थोपि आकाशवदेव जिस प्रकार शरीर में स्थित आकाश आकाश सर्वव्यापक है शरीर के अंदर भी है घड़े के अंदर भी है घट का नाश होता है तो भी आकाश का नाश नहीं होता है इसी प्रकार शरीर में स्थित आकाश शरीर के नाश होने पर भी आकाश का नाश नहीं होता है जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापक है शरीर के अंदर है शरीर के नाश होने पर भी आकाश का नाश नहीं होता है घट के नाश होने पर भी आकाश नाश नहीं का नाश नहीं होता है इसी प्रकार शरीर के नाश होने पर भी और आत्मा शरीर में होए सर्वव्यापक होने से शरीर के अंदर है तो आत्मा का हनन नहीं होता है कोई भी परिणाम नहीं होता है हन नहीं क्षति उसका हनन नहीं होता है शस्त्र आदि के द्वारा शरीर के नाश होने पर भी जिस प्रकार आकाश का नाश नहीं होता है टीका में यदि आत्मनो अन्यत ब्रह्म स्यात् तत्र जन्मादि प्राप्ति अभावात अप्राप्त प्रतिषेध स्यात् यहाँ न जायते मृत विपसित कहकर जन्म मरण का निषेध किया गया अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मा कहकर ब्रह्म विषय का प्रश्न वह ब्रह्म यदि आत्मा से भिन्न होता आत्मा मनुष्य मर जाता है चैत्र देवदत्त मर गया देवदत्त तो जड़ को नहीं कहते चेतन है देवदत्त को कहते जीव को देवदत्त तो मर गया कहेंगे तो आत्मा में मरण की भ्रांति होती मर गया करके आत्मा में मरण जन्म की प्राप्ति है देवदत्त जात अमृत तस्य पुत्र जात अमृतस्य ये जन्म मृत्यु व्यवहार होता है चेतन में आत्मा में जन्म मृत्यु की प्राप्ति है जहाँ प्राप्ति है वहाँ निषेध होता है जहाँ प्राप्ति नहीं वहाँ निषेध व्यर्थ होता है उसको कहते दोष अप्राप्त प्रतिषेध अप्राप्त निषेध प्राप्त हो तो निषेध करना प्राप्त हो सत्यम निषेध व्याकरण में भी बताते प्राप्ति के बिना निषेध नहीं होता है कोई व्यक्ति आता है तो उसको कहना तुम नहीं आओ जो कभी नहीं आते उसको कहे तू नहीं आओ वो तो आता ही नहीं तुम नहीं आओ निषेध क्यों करना वो तो कभी हम आते ही नहीं जो कुछ करता है हम निषेध करते नहीं करो और जो कभी नहीं करता उसको क्यों निषेध करना आत्मा में जन्म मरण आदि की प्राप्ति है तो वहाँ निषेध होगा अब ब्रह्म अन्यतर धर्मात अन्यतर धर्मात कर ब्रह्म के लिए ओंकार आलम्बन बता दिया एतदेवाक्षरम पर एतदेवाक्षरम परम अपर एतदेवाक्षरम परम एतदेव अपरम क्या मतलब है एतदेवाक्षरम परम हम ये अक्षर पर और अपर दोनों ब्रह्म के लिए कहा तो ब्रह्म के लिए यहाँ न जायते तो मृयते विपस्थिति कर निषेध करते ऐसा नहीं है तो फिर ब्रह्म के लिए नहीं तो आत्मा के लिए निषेध ब्रह्म के लिए तो प्रकरण चल रहा है इसलिए सिद्ध होता आत्मा से यदि ब्रह्म अन्यत्र होता तो ब्रह्म में जन्म मरण की प्राप्ति नहीं तो निषेध क्यों करेंगे जन्म मरण का निषेध करता है अर्थात आत्मा में जन्म मृत्यु की प्राप्ति है और आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है इसलिए जन्म मरण का प्रसंग प्राप्त होने पर निषेध करते हैं यदि जीवात्मा अलग ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म अलग तो जीव में तो जन्म मरण की प्राप्ति है वहां निषेध करना चाहिए ब्रह्म में तो जन्म मरण की प्राप्ति नहीं वहां निषेध करना व्यर्थ हो जाएगा अप्राप्त प्रतिषेध होता है अप्रामाणिक हो जाएगा इससे सिद्ध होता है ब्रह्म आत्मा से भिन्न नहीं है यदि आत्मनो अन्यत ब्रह्म से आता आत्मा से ब्रह्म भिन्न होता तो ब्रह्म में जन्मादि प्राप्ति ही नहीं है प्राप्ति अभावात प्रतिषेध नाम व्यर्थ अप्राप्त प्रतिषेध हो जाएगा अप्राप्त निषेध अप्रामाणिक है जन्म जन्मादि प्रतिषेधन ब्रह्म उपदिशन जन्मादि के प्रतिषेध करके प्रतिषेध के द्वारा ब्रह्म का उपदेश करते आचार्य यमराज श्रुति के श्रुति उपदेश करती जन्मादि के मुख से जन्मादि प्रतिषेध के द्वारा ब्रह्म उपदेश करते समय क्या अभिप्राय होता है आत्म स्वरूपमेव उपदिशति जो ब्रह्म व आत्म स्वरूप ही आत्मा अभिन्न ब्रह्म स्वरूप का उपदेश है श्रुति उपदेश करती अथवा अमराज उपदेश करते हैं यदि गम्यते मरण निमित्ताच नास्तित्व आशंका आत्मनो मरणा भावे अस्तित्व विषय प्रश्नस्यापि एतदेव वचन भवति द्रष्टव्य मरण निमित्ता से नास्तित्व आशंका मरण निमित्ता से नास्तित्व आशंका आत्मन आत्मा में मरण है देवता मर गया तो आत्मा में नास्तित्व की शरीर नष्ट हो गया तो आत्मा में नहीं रहा नास्तित्व की शंका आत्मा में मरणा भावे अस्तित्व विषय प्रश्न से आप एतदेव अब ब्रह्म मरण यदि नहीं होगा तो अस्ति नास्ति प्रश्न कैसे होगा ब्रह्म में जीव में मरण है से नास्तित्व की शंका ब्रह्म में नास्तित्व अस्तित्व की शंका तभी यदि आत्मा से ब्रह्म अभिन्न हो अत्यंत भिन्न होगा तो वहां तो नास्ति अस्ति शंका ही नहीं तो प्रश्न वहां निषेध करना क्या जरूरत है आत्मा के विषय में प्रश्न क्या था यही हम प्रति विचिकित्सा आत्मा में ही और ब्रह्म यदि अत्यंत भिन्न होगा वहां ब्रह्म में जन्म मरण निषेध करना व्यर्थ है इसलिए आत्मा अभिन्न ब्रह्म में निषेध करने से ब्रह्म आत्मा की एकता विवक्षित है मरणाभावे अस्तित्व विषय प्रश्न से आप एतदेव वचन यही वचन समाधान है अस्तित्व पक्ष सिद्धांत है नास्तित्व की शंका नहीं है आत्मा कोई विकार नहीं होता नित्य है तो आत्मा का नाश नहीं होता है न अन्यते हन्यमान शरीर कह करके ही उपदेश है मरण नहीं होता है आत्मा अस्ति अस्ति नास्ति संशय का उत्तर अस्ति सदरूप है नास्ति तो है ही नहीं इति दृश्य में समझना ब्रह्म से आत्मा अभिन्न और अस्ति नास्ति जो संशय उसका उत्तर हो गया अस्ति सदरूप है नित्य होने से सदा एक रूप है एक रूप है आत्मा से अभिन्न ब्रह्म उसका नाश नहीं होता है कोई विकार यास्क मुनि के द्वारा कहा गया निरुक्तकार यास्क है इच्छे विकार है सब पदार्थ में जायते अस्ति कहीं के अस्ति जायते कहीं के कहते वस्तु तो जायते अस्ति क्रम है क्योंकि जन्म के बाद ही उसकी सत्ता है उत्पत्ति के पर नहीं जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षयते विनश्यति कोई भी पदार्थ की उत्पत्ति होती उत्पत्ति के बाद पदार्थ रहता है उसके बाद उसमें वृद्धि वर्धते फिर विपरिणाम अपक्ष अंत में समाप्त विनाश हो जाएगा जो जायते अस्ति कहने से जन्म के पश्चात भावी अस्तित्व ये भाव पदार्थ का विकार है जेयम यत्त प्रवक्षामि यज्ञात्व अमृतम स्मृते अनादिमत परम ब्रह्म यसत तत्नासद उच्यते सत असत नहीं है ब्रह्म असत तो नहीं ठीक है असत भी नहीं कहते न सत्य न सदुच्यते श्रुति तो कहती सदैव समिदम अग्रासित एकमेव अद्वितीयम तो ब्रह्म सत कैसे नहीं सदैव समय अग्र अग्रासित यहाँ जो न सत न असत कहकर गीता में सत का निषेध किया गया वो सत उत्पत्ति के पश्चात भावी सत्व का निषेध घट आदि पदार्थ हिमालय आदि पर्वत भी हो बड़े-बड़े प्रासाद भी हो उत्पत्ति के पश्चात भावी सत्ता उसमें है ऐसे ब्रह्म में ऐसा नहीं है स्वरूप सत्य है उत्पत्ति के बाद सत्ता का निषेध किया गया तो सदरूप स्वरूपत है यहाँ जायते के बाद अस्ति छह भाव विकार में अस्तित्व विकार भी आत्मा में नहीं है ब्रह्म में अस्तित्व सदरूप विकार नहीं कहता उत्पत्ति पश्चात भावी जो सत्व वो ब्रह्म में नहीं है ब्रह्म तो स्वरूप तो सत्य उसकी उत्पत्ति नहीं जिसकी उत्पत्ति नहीं उत्पत्ति पश्चात भावी सत्व उसमें रहेगा उत्पत्ति ही नहीं तो उत्पत्ति का अनंतर भावी सत्व कैसे होगा जायते अस्थि फिर वर्धते वृद्धि विपरिणाम होता अपक्षय होगा कोई पदार्थ नष्ट हो जाता है बड़े-बड़े लोहे के बर्तन भी बाद में छेद हो जाता है उसमें पतला हो जाता है कितने साल में नष्ट हो जाता है बड़े बड़े लोहे के बर्तन भी होता है नष्ट होता है दस बीस साल पचास साल भी हो पचास साल के बाद ही नाश नहीं प्रारंभ से जब उसको थोड़ा सफाई करते मांजते हैं थोड़े थोड़े क्षय होता है दिखता नहीं है थोड़े थोड़े काम होते होते कभी बिल्कुल पतला हो जाता है वो प्रारंभ से ही क्षय शुरू हो गया पहले पहले कुछ वृद्धि हो जाती है मैला पे लग जाता है कहीं बढ़ गया किंतु ह्रास होने लगा माजते समय कोई साधु महात्मा कहते थे कमंडलू रखते थे पहले और धोना उसको माजना है ये कमंडल जो पीतल आदि के कमंडल है अच्छी तरह से माजेंगे नहीं तो मैला दिखेगा तो माजते माजते मोटा-मोटा पीतल के कमंडल फिर पतला हो जाता है छेद होता है फेंक के दूसरा नया लेते हैं कोई साधु दूसरे को डांटता है तुमको क्या पता है मैं पांच कमंडल फेंका मैंने पांच कमंडल फेंके हैं क्या मतलब कितने बड़ा कितने पुराना तुमने तो कितने कमंडल फेंका है कितने कमंडल तुमने तो माज करके फेंका है तो कम हुआ ना ये प्रामाणिक लोग में तो पूछेंगे कि अंत कितने चातुर्मास आपने किया कोई महात्मा को देखेंगे सन्यासी का नियम है यो भवेत पूर्व सन्यासी तुल्य धर्म तो यदि तस्मै नमस्कार कर्तव्य नेत्राय कदाचन जो पूर्व सन्यासी है सन्यास में बड़ा छोटा उम्र से नहीं होता है जो पहले सन्यास है वो बड़ा है संस्कार विधिवत सन्यास जिसका हुआ मनमानी कोई वस्त्र पहन लिया उसको नहीं विधिवत सन्यास जिसका पहले हुआ वो बड़ा है बाद में तो उसे कनिष्ठ होगा इसलिए पूछेंगे आपने कितने से किया सन्यासी के लिए मुख्यतः से होता है तो चातुर्मास के हमारे से तीसरी हो गई अच्छा तीसरी हो गई तो हमारे तो बत्तीस है तो बड़ा ही हो गई सन्यासी के बाद कितने चतुर्मास से क्या कहन से कितने साल में साल के पहले आप क्या सन्यास हुआ था ऐसा नहीं पूछ करे आपने कितने से किया तो उसे बड़ा छोटा निर्णय होता है जो पूर्व सन्यासी उसको नमस्कार करना चाहिए यहाँ गुरु पूर्णिमा में जैसे होता है वहाँ भी पूर्व सन्यासी को ज्येष्ठानुक्रमण प्रणाम करना चाहिए ऐसे गुरु पुण्य में पद्धति में है पहले जो सन्यास लिया बड़ा है तो पूछेंगे कितने चतुर्मास से हुआ ये तो शास्त्रीय थोड़े समझदार पूछेंगे और जो सामान्य कमंडल माजने वाले पूछे तुमने कितने कमंडल फेंका है मैंने पांच कमंडल माज माज कर फेंका है मतलब कितने पुराना हो तुम तो अभी नए हो एक ही कमंडल फेंका नहीं या दो कमंडल फेंका है तो भी तो नए है तो ये उसमें क्या होता है माजते हैं तो थोड़ा थोड़ा पहले से रास शुरू होता ही जाता है दिखता नहीं है थोड़े थोड़े होते होते कभी इतने हो जाता पतला हो जाता फिर चेद भी हो जाता है पीतल के बड़े-बड़े मोटा मजबूत है तो घसते घसते पतला हो जाता है छेद भी हो जाता है तो नाश कितने साल के बाद एक साथ नहीं हुआ वो पहले से शुरू हुआ है अपक्षय अपक्षयते विपरिणाम होता है विपरिणाम होता है उसमें लोहे बर्तन कहीं कलंक या लग जाता है काट खराब हो जाता है पत्थर ईंट के दीवार अभी बीच में परिणाम हो जाता है दुर्बल हो जाता है ईंट खराब हो जाता है ऐसे पत्थर भी फटने लगता है या विपरिणाम होते विनाश होता है छह विकार वो कुछ आत्मा में ब्रह्म में कोई भी विकार नहीं है ब्रह्म निर्विकार निष्क्रिय है और आत्मा सद्रूप है उसमें जन्म उत्पत्ति पश्चात भावी सत्व दयादि में है आत्मा में नहीं आत्मा में जन्म मरण नहीं नित्य है नित्य कहने से वो सदरूप नित्य है और कुछ लोग क्या कहते हैं जितने सते सब अनित्य है और असत है नित्य जो असत है तुच्छ उसको नित्य कहेंगे असत है नित्य असत है अनित्य बौद्ध लोग कहते यह सत तत्क्षणिकम संतश्चय में भावा ये सारे पदार्थ सदरूप है इसलिए सब क्षणिक अनित्य है अनित्य कौन है असत जो तुच्छ है उसको कहेंगे अनित्य असत तो है ही नहीं कहते उसको नित्य कहते और सत होता नित्य हो जाएगा ये वेदांत वेदांत में कहा गया ब्रह्म सदरूप रूपे असत नहीं है यदि असत से कार्य उत्पन्न होता मिट्टी से जितने बर्तन बनाएंगे सब मिट्टी है या कोई उसमें एक दो तीन चांदी सोना हो जाता है हैं एक दो होता है था ना चांदी सोना चांदी से जितने बर्तन बनाएंगे उसमें चांदी का कोई रहेगा हैं या मिट्टी का है कितने रहेंगे सब सोने का बनाएंगे तो इसी प्रकार असत से जगत उत्पत्ति होती तो क्या कहना चाहिए आकाशम असत वायु रसन जल नहीं है पृथ्वी नहीं है नहीं नहीं कहना चाहिए हे हे कर कह तो ठीक नहीं आकाश हे वायु हे जलम अस्ति ऐसा नहीं आकाशम असत वायु रसन जलम असत ऐसे कहना चाहिए सोना से बना तो सब सोना है असत से जगत बनेगा तो सो असत होना चाहिए सत है सत अस्ति अस्ति कहते हैं भूतले घट कह दिया अस्ति नहीं कहा तो भी अस्ति क्रिया का अध्यार होता है भूतले घटो अस्ति आकाश है आकाश जल पृथ्वी आदि कहे तो अस्थि का अन्वय होता है इसे सति कारण जितने पदार्थ अस्थि अस्थि अस्थि करके व्यवहार होता है सब का एक कारण सद्रूप है तभी सद्रूप का अनुगम सब के साथ होता है मिट्टी जैसे सब कार्य में मिट्टी है सुवर्ण के कार्य में सोना सोना सुवर्ण है इसी प्रकार सद ब्रह्म का कार्य सारा जगत सर्वत्र सत सत व्यवहार होता है सद ब्रह्म कारण है ना नहीं सब का न जायते न नायम कुतश्चित बभो न कश्चित कार्य भी नहीं कारण नहीं और कारण कैसे प्रमुख है जन्मादेश से तो सोपाधिक ब्रह्म कारण होता है निरुपाधिक शुद्ध ब्रह्म कारण और कार्य कार्य तो नहीं कारण भी नहीं है ये इसमें स्पष्ट कर दिया आत्मा से अभिन्न है ब्रह्म सब विकार से रहित नित्य है इसलिए जो पहले प्रश्न पूछा था येयम प्रेत विचिकित्सा आत्मा के विषय में अस्ति नास्ति इसका उत्तर हो गया अस्ति नित्य है एवं भूतम आत्मानम शरीर मात्र आत्म दृष्टि ऐसा आत्मा नित्य होने पर भी कोई मानता है मर गया मर गया आत्मा के अनाश हो गया मानता है शरीर मात्र यस्य केवल शरीर को आत्मा मानने वाला चारवा मत है देह को आत्मा मानते हैं केवल चार भाग करे कोई नहीं अभी भी देह का आत्मा मैं ही हूं तो तुम कौन हो दिखाएंगे ही में शरीर को दिखाएंगे अहम गच्छामि स्थूलो हम कृशो हम देह में हम बुद्धि करने वाले मानता है मर गया नष्ट हो गया हंता चेन मन्यते हंतुं हत चेन मन्यते हतम उभौ तौ न बिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ये भी इसका भी गीता में दिया हंताचेन मन्यते हंतुम और हतस्यन मन्यते हतम इसका अलग प्रकार कर दिया येनम वेत्ति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम ये पूर्वाद थोड़ा शब्द अलग हो गया अर्थ समान है उत्तराद बराबर है उभौ तो न बिजानी तो नाय हंति न हन्यते उत्तराद बराबर है श्रुति में जो कहा जाता है स्मृति उसको स्पष्ट करती है श्रुति अर्थों को स्पष्ट करने के लिए स्मृति पुराण है व्यास जी ने अष्टादश पुराण की रचना की इसलिए श्रौत अर्थों को ज्ञान कराने के लिए सबको कैसे ज्ञान हो जाए क्योंकि वेद अध्ययन करने के लिए कुछ नियम अधिकार आदि का विचार है पुराण के लिए कहा दिया श्रावे चतुर्वर्णान कृत्वा ब्राह्मण अवग्रत चार वर्ण को सुनाए ब्राह्मण को सामने करके उसमें अधिकार का नहीं सबको जो श्रुति में कहा गया प्रतिपाद्य उसको ज्ञान कराने के लिए सारे अष्टादश पुराण है कथा आख्यायिका के माध्यम से श्रुति प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मा को कथन करने के लिए सब पुराण है सब का तात्पर्य उसमें है तो जो श्रुति में कहा गया उसको थोड़ा शब्द अलग करके स्मृति में ईशावास्यमिदम सर्वम जो मंत्र है भागवत माता आत्मा वास्यम इदम सर्वम किंच आगे सब बराबर है वास्य के स्थान पर ईशा के स्थान आत्मा रखित आत्मा वास्यम जग इदम सर्वम किंच बाकी सब बराबर है इसी प्रकार ये दो मंत्र इसी मंत्र को भगवान गीता में रखा शब्द थोड़ा अलग करके हंता चेन मन्यते हतुम हतश्चेत मन्यते हतम मानने वाला मान चाहता मैं मारूं और कोई मर गया तो मैं मर गया मानता है यो गीता में कहा यह न व्यक्ति हंतानम आत्मा को जो हनन करता मानता है यस्य न मन्यते हतम और जो मानता है आत्मा हत हो गया उसी का स्पष्टीकरण है जो मानता है आत्मा हनन का करता और जो मानता तो हनन का कर्म आत्मा हनन का करता नहीं होता है आत्मा का हनन नहीं होता है इसलिए हनन का कर्म नहीं होता है ऐसा जो मानता है आत्मा को कर्ता मानता है हनन का हंता चेन मन्यते हतुम यहां यहाँ कहते हंता हनन करता यदि हंतु मन्यते मारता इसको मैं मार दूं हतस्य तो मन्यते हतम जो हनन किया गया वो मारते मारिया अर्थात आत्मा में हनन कर्तृत्व हनन कर्मत्व ये जो मानता है ये दोनों उभौ तो न जानित ये दोनों ठीक नहीं जानते हैं क्योंकि अयम न हंति न हन्यते आत्मा न तो हनन करता होता है न तो हनन का कर्म होता है न मारता है न मरता है म, म, मारता नहीं स्वयं न मरता है इसलिए आत्मा में हनन हनन का विषय नहीं हनन का कर्ता नहीं कर्म भी नहीं है एवं भूतम आत्मा शरीर मात्र आत्मदृष्टि हंता चेद यदि मन्यते चिंतयति मन्यते का चिंतयति हंतुम हनिष्यामि एनमिति इसको मार दूंगा ऐसा जी मानता है योपि अन्य हतः मारा गया सो विचेत तो मन्यते तो हतम आत्मानम आत्मा हत हो गया आत्मा हतम मानता है हतो हम इति हम आत्मा का हत हनन आत्मा का हनन हो गया ऐसा जो मानता है वो भी अज्ञानी उभो अभी तो न भी जानी तो दोनों ठीक नहीं जानते एक हनन का कर्ता मानते एक हनन का कर्म मानता है दोनों ठीक नहीं जानते न भी जानी तो स्व आत्मानम अपने आत्मस्वरूप नहीं जानते हैं क्यों नहीं जानते ये तो नायमन्ति हंति न हन्यते नाय हंति अविक्रियत्वाद आत्मन आत्मा अविक्रिय है कोई भी क्रिया नहीं है निष्क्रिय है हनन कर्तु का नहीं हो सकता है आत्मा में तथा न हन्यते हनन का कर्म भी नहीं होगा न हन्यते आकाशवद अविक्रियत्वादेव आकाश के समान अविक्रिय होने से आत्मा का हनन नहीं होता है आकाश का हनन हो जाता है कुठार से खड़ग से किसी से नहीं होगा आत्मा आकाश का हनन नहीं होता है आकाश से आकाश में ये हनन आदि कुछ नहीं अग्नि से ज्वलन नहीं होगा आकाश में कुछ अग्नि से ज्वलन कुठार से खड़ग से हनन अथवा जल से गीला हो जाना कुछ नहीं आकाश के समान आकाश से अभी और सूक्ष्म है अभी के होने के कारण आत्मा का हनन नहीं होता है अतो अनात्मक विषय धर्मा धर्मादि लक्षण संसारो न ब्रह्मज्ञस्य श्रुति प्रामाण्य न्यायाच धर्मादि अनुपपते अतो अनात्मक विषय संसार अनात्मक जो आत्मज्ञ नहीं है उसका विषय संसार वही संसार को देखता है अज्ञानी अज्ञानी में आश्रित है संसार धर्मादि लक्षण संसार धर्म आदि धर्म अधर्म आदि से उसका कार्य सुख दुख जन्म मरण आदि जन्म मरण आदि जितने है जितने सुख दुख संसार में है सबका कारण पुण्य पाप कर्म है पुण्य पाप कर्म से पुण्य पाप दृष्ट होता है उसी के फल भोगने के लिए आता है तो धर्म अधर्म आदि अधर्म आदि कार्य धर्माधर्म निष्पादन करने के शरीर ये सब जितने संसार है पुण्य कर्म विहित कर्म करेंगे तो पुण्य होता है निषिद्ध कर्म करेंगे तो पाप होता है धर्म सद प्रयोग करते तर्क में विहित जन्य धर्म निषिद्ध कर्मजन्य तो अधर्म पुण्य पाप को धर्म अधर्म शब्द से कहा मीमांसा में चोदना लक्षण अर्थ धर्म विधि वाक्य धर्म में प्रमाण वहां धर्म कर्म को ही कहा गया यागादिरेव धर्म याग हवन आदि को धर्म मीमांसा में कहते हैं तो धर्म अधर्म शब्द से पुण्य कर्म को धर्म पाप कर्म को अधर्म इसे कह सकते हैं अथवा पुण्य कर्म जन्य अदृष्ट को भी धर्म अधर्म कहते हैं तो धर्म है कारण सुख का सुख का लक्षण करते धर्म मात्र साधारण कारणम कारण गुण सुख किसको कहेंगे धर्म है जिसका असाधारण कारण धर्म मात्र साधारण कारण गुण सुख इसी प्रकार दुख को कहते अधर्म मात्र साधारण कारण अधर्म ही असाधारण कारण साधारण कारण तो ईश्वर इच्छा अदृष्ट आदि होगा देश काल आदि किंतु असाधारण कारण दुख का अधर्म है पाप सुख का असाधारण कारण पुण्य है धर्म और जो जितने पुण्य पाप लेकर आए भोगने के लिए शरीर मिला जन्म हुआ शरीर जन्म हुआ कुछ पुण्य पाप से ही शरीर का निश्चय हुआ है जन्म पूर्व जन्म मरने के पहले जितने जो लेकर के आया अपने ही उपार्जन क्या हुआ है भोग करेगा कौन दूसरा अपने लेकर आए अपनी संपत्ति उसको कोई नहीं ले सकता है चोरी भी नहीं लेगा पुण्य पाप पाप तो कोई नहीं लेगा पुण्य भी नहीं ले सकता है देने पर भी ना ना दे सकता ना कोई ले सकता है जितने लेकर आया अपना अधिकार अपने ही भोगना है निश्चिंत रहना कोई लेगा नहीं और अपने आप को भोगना पड़ेगा किसका कि पुण्य है पाप दोनों जितने लेकर आए वो किसकी संपत्ति है अपनी संपत्ति अपने उपार्जन किया उसमें किसी का अधिकार नहीं अभी भी जो कुछ करेगा अपना ही है साथ में लेकर जाएगा और किसी नहीं ले सकता है इसको पुण्य पाप को लेकर जाना पड़ेगा लेना पड़ेगा नहीं वो पुण्य पाप आपको ले लेंगे <laughs> वो लेकर के कहां ढोकर गिराएंगे उसको भोगना ही है इसलिए कभी सुख मिलता है तो समझना ये अपने पुण्य कर्म का फल और दुख मिलता है तो दूसरे दुख देता है वो भी अपने किया हुआ कर्म फल है इसलिए दूसरे पर दोष नहीं देना चाहिए दोष देकर और पाप करते हैं दुख मिला तो अपने पाप कर्म का फल खुश होकर ग्रहण कर लो स्वीकार कर लो तुमने किया भोग कर लो और जितने भोग करना है वो भी करना ही है तो भोग करना है तो भोग मिलता है दुख तो ग्रहण कर लो समझ लिया ये मेरा ही कर्म का फल है भोगना ही है भोग लेना चाहिए धर्म अधर्म लक्षण संसार है अज्ञानी के लिए न ब्रह्मज्ञस्य ब्रह्मज्ञानी के लिए संसार पुण्य पाप धर्म अधर्म कुछ नहीं है देहादि का धर्म है जन्म मरण सुख दुख अंतकण में है आत्मा में कुछ है ही नहीं ब्रह्मज्ञानी आत्मस्वरूप निष्क्रिय ब्रह्म को हम अस्मि मानता है जिसमें ना सुख दुख चित्त पिपासा जन्म मरण कुछ ही नहीं तो संसार ब्रह्म ज्ञान में नहीं अज्ञानी के लिए श्रुति प्रामाण्यच प्रामाण्याच श्रुति ही प्रमाण है श्रुति कहती है अज्ञान से ही संसार ज्ञान से ज्ञान से, निवृत्ति होती है और न्यायाच टीका में दिया यदि अविक्रिय आत्मा तरी धर्मादि अधिकार भावात तद असिद्धो संसार उपलम्बे न स्याद इति आशंका आत्मा यदि अविक्रिय आत्मा में कोई विक्रिया है ही नहीं निष्क्रिय है आत्मा कुछ करेगा नहीं तो धर्म अधर्म नहीं होगा आत्मा तो जड़ करेगा क्या धर्म अधर्म जड़ तो धर्म अधर्म नहीं करेगा अवचेतन आत्मा निष्क्रिय हो गया ये धर्म अधर्म करने के लिए कोई अधिकारी नहीं रहा जड़ पत्थर पुण्य करेगा या पाप करेगा पुण्य पाप कुछ नहीं होता है तो अधर्म धर्म चेतन यदि निष्क्रिय हो गया तो धर्म अधर्म करने के कोई अधिकारी नहीं रहा तो धर्म अधर्म नहीं होगा तदसिदो धर्म अधर्म पुण्य पाप कर्म नहीं हुआ फल ने तो तो संसार कैसे होगा धर्म अधर्म से तो संसार होता है धर्म अधर्म नहीं तो संसार उपलम्ब नहीं होगा ईश्वर भी जो सृष्टि करते सृष्टि काल में ऐसे ना अपनी इच्छा से जहाँ जगत तो बना देंगे प्राणियों के कर्म बहुत जीव है प्राणी उनका कर्म फल देने के तैयार होता है तो ईश्वर बनाते हैं कर्म के भोगने के लिए बनाना पड़ेगा सृष्टि करेंगे भले ही कल्पित हो कर्म भी कल्पित भोग भी कल्पित नाटक में सब बनते नहीं कल्पित सब नाटक नहीं करते कल्पित से नाटक में लीला दिखाते हैं कोई राजा बन जाता है कोई मंत्री बन जाता है कोई शत्रु बन जाता है कोई मित्र बन जाता है कोई पुत्र बनता है राजकुमार बनता है कोई पत्नी बनता है ये सब बन कर नाटक दिखाते हैं नाटक रचने वाले नाटक में आकर के राजा मंत्री बनने वाले सबको मालूम है नहीं कल्पित किंतु नाटक करते विनोद होता है सो देखते हैं इसी प्रकार पुण्य पाप कर्म क्या परमात्मा कहते अच्छा ठीक है देखो जो कर्म क्या भोग उसको कैसे भोगना है ऐसे नाचने की इच्छा तो देखो नाचो अनादिकाल से यही पुण्य पाप कर्म फल भोगने के जीव जन्म मरण में आकर के संसार में नाचता है खेलता है कर्म करता है रोता है फिर कर्म करता है फिर खाता है फिर मरता है फिर जन्म लेता है फिर पाप कर्म करता है फिर जमदूत तो उसको पिटाई करते हैं फिर रोता है हाँ हाँ मुंचा मुंचा ऐसे करता है ये नाटक समाप्त नहीं होता है जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है जब थक जाता है फिर सोता है ये बड़ा कष्ट है संसार दुखमय है जो थका नहीं नाचने में बड़े खुश होकर बच्चे भी नाचते लोग भी नाचते बहुत नाचने के बाद अब नाचेंगे <laughs> फिर तो बैठ जाएंगे लेट जाएंगे बहुत नाचेंगे बाजा बजाना लो जोर से बजाएंगे जोर से नाच करो कितने नाचेंगे जब थक जाते हैं फिर बैठते हैं जब तो नहीं थका बाजा बजाना थकते नहीं नाचो उनको क्या उनको तो डोर मृदंग पिटना है नाचने वाले पूरा नाचेंगे इसी प्रकार ये संसार चल रहा है यदि धर्माधर्म नहीं होगा तो संसार ही नहीं होगा तदसिदो संसार उपलम्भ न स्याद इत आशंक फिर कहते ये अनात्म के विषय अज्ञानी के लिए संसार है ज्ञानी के लिए नहीं है अज्ञानी से ही अज्ञान वस्तु में सत्य तो बुद्धि करता अज्ञानी प्राप्त करने के लिए चाहता है प्रवृत्त होता है इदम में स्याद इदम में स्याद नहीं मिलता है तो जबरदस्ती ले लेता है और कोई कष्ट देता है उसको मारता है पर धन ले लेता है फिर पुण्य पाप करने से फिर फल होता है यद अज्ञानात प्रवृत्ति से तज ज्ञानात् सा कुतो भवेत इति न्यायाच ये न्याय बताया जिसके अज्ञान से प्रवृत्ति होती है ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप के अज्ञान से संसार में सत्यत्व बुद्धि और इष्ट वस्तु प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति अनिष्ट निवृत्ति के लिए अनिष्ट के परिहार के लिए निवृत्ति होती है प्रवृत्ति निवृत्ति अज्ञान से है तज ज्ञानात अधिष्ठान आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर कुत सा भवेत प्रवृत्ति कैसे होगी इस न्याय से अज्ञान से ही सब होता है ज्ञान से नहीं होता है आत्मज्ञ से धर्मादिनुपपद्यते अतः आत्मज्ञ सदा मुक्त है वेत्या आत्मा को जो जान लेता है स्वरूप से अहम अस्मि परम ब्रह्म निर्विशेष निष्क्रिय आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है वो धर्म अधर्म पुण्य पाप नहीं हो सकता है उसका कारण भी नहीं दिखता है कुछ प्राप्त करने का है ही नहीं जितने भी पुण्य कर्म फल कुछ नहीं ये सब मिथ्या है कुछ नहीं चाहता है आत्मज्ञान ज्ञान के धर्म अधर्म नहीं अतः आत्मज्ञ सदा मुक्त है वैत्या सदा ही मुक्त है आत्मज्ञान हो गया तो वो देखता है कि मैं नित्य मुक्त हूँ ये नहीं समझता कि मैं अब संसार बंधन में था अभी मुक्त हुआ व्यवहार में कभी से लगेगा कहेगा किंतु जब पारमार्थिक साक्षात्कार हो गया देखता है अरे आत्मा में तो कभी बंधन था ही नहीं रज्जु में सर्प भ्रम होने पर भी भ्रांति काल में रज्जु में सर्प रहता है क्या रहता है ना नहीं भ्रांति काल में नहीं रहता है कोई कोई कहते भ्रांति काल में तो रहेगा भ्रांति काल में भी सर्प नहीं रहता है जो रज्जु का ज्ञान हो गया कोई नहीं कहता है पहले सर्प था अभी रज्जु आ गई कहते रज्जु ही है सर्प पहले कभी नहीं था तीनों काल में सर्प है ही नहीं ये तो रज्जु है सर्प कैसे होगी इसी प्रकार जब साक्षात्कार हो जाता है ज्ञानी देता मैं नित्य मुक्त हूँ मेरे में संसार कभी नहीं है आत्मज्ञान सदा मुक्त आत्मज्ञान आत्मज्ञानी सदा ही मुक्त है उसका अनुभव साक्षात्कार हो जाता है मैं मुक्त हूँ अज्ञान नष्ट होने पर देखता है नित्य मुक्त हूँ रज्जु को देखने वाले जिस प्रकार कहता है कभी यहाँ सर्प नहीं था ये तो रसी हमको भ्रम हो गया था किंतु रसी तो रसी है ठीक इसी प्रकार भ्रांति संसार की भ्रांति अज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है आत्मज्ञान सदा मुक्त न्यायाच दिया है श्रुति प्रामाण्य न्यायाच धर्मा धर्मादि अनुपपत्ते ज्ञानी में तदुक्तम विवेकी सर्वदा मुक्तः कुर्वतो नास्ति कर्तृता कृष्ण जनको यथा इति विवेकी सर्वदा मुक्त सर्वदा मुक्त है हमेशा मुक्त ही है कभी बद्ध कभी मुक्त ऐसा नहीं है कभी अपने को बद्ध नहीं दिखता है विवेक आत्मा में बंधन है ही नहीं व्यवहार करते समय चलते फिरते समय ज्ञान देता मैं तो नित्य मुक्त हूँ कुर्वत्व नास्ति कर्तृता देह से कर्म कर होता है विवेकी का उसमें कर्तृत्व तो है ही नहीं देह इंद्र मन में कर्म है अज्ञान आरोप करता मैं कर रहा हूँ आत्मा में आरोप कर कर्तृत्व तो अपने में आरोप करता है जबरदस्ती ये इस कर्म का मैं करता इस कर्म फल में भोग करूंगा कर्तृत्व है तो भोक्तृत्व ये कुर्वत्व नास्ति कर्तृत्व ये विलक्षण है कर्तव्य भी कर्तृत्व नहीं है देहादि से होता हुआ भी आत्मा में नहीं है कुर्वत्व भी कर्तृत्व नास्ति कर्तृत्व ही नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यत तत्वविद भगवान ने कहा है कर्तृत्व तो नहीं तो भोक्तृत्व कैसे होगा कर्ता नहीं तो भूता नहीं होगा कैसे करते हुए कर्तृता कैसे नहीं अलेपवादम आश्रित्य अलेपवाद अलेप से वादन वाद आत्मा में लेप नहीं होता है यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोपलिपते इसी प्रकार आत्मा का लेप नहीं होता है नैव किंचित करमिति युक्तो मन्यत तत्वित इसी प्रकार सर्वत्र लोप नहीं होता है सर्वथा अवस्थित होते तथात्मा नोपलिप्यते ये बाद अलेप वचन को आश्रय करके श्रुति प्रमाण श्रुति स्मृति प्रमाण को आश्रय करके आत्मा में किसी का लेप नहीं होता है इसी प्रकार बाद माश्रित्य कर्तृत्व आत्मा में है ही नहीं ज्ञानी देखता है मैं नित्य शुद्ध हूँ मेरे में कर्तृत्व है ही नहीं शरीर से कर्म होने पर भी देह इंद्रिय मन के कर्म को ज्ञानी आत्मा में आरोप नहीं करता है उसमें दृष्टांत या श्री कृष्ण जनक हुआ था भगवान श्री कृष्ण था जनक भगवान श्री कृष्ण कहते मैं सब करते हुए भी कुछ नहीं करता हूँ जनक के इस प्रकार पूरा विदेह राज्य होने पर भी यश में अस्ति सर्वत यश में नास्ति किंचन मिथिलायाम प्रदधायाम न में किंचन दहते सारा मिथिला जल जाने पर मेरा कुछ नहीं जाता है जनक कहते हैं ये कुछ नहीं तो सब करते हुए भी आत्मज्ञानी शुद्ध आत्मस्वरूप उसको देखता है उसमें कुछ होता ही नहीं उसके साथ देह आदि कर्म का लेप संबंध नहीं होता है देह आदि जिस प्रकार मरु में जल दिखता है जल का संबंध है ही नहीं क्योंकि कल्पित है देहादि कल्पित है देहादि के क्रिया का संबंध आत्मा में कैसे होगा आत्मा असंग है इसलिए नित्य मुक्त है आत्मा में कोई विकार नहीं है नित्य मुक्त है जो नचिकेता ने पूछा था आत्मा के विषय में संशय और धर्म अधर्म से त्रिकाल परिचिदन परिच्छेद रहित ये वस्तु ब्रह्म उसका उपदेश करो इसी तत्व का उपदेश है ये आत्म स्वरूप सब का आत्मा एक है अलग-अलग नहीं है एक अद्वितीय तत्व है भगवान ने गीता में कहा अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित सारे भूत में आत्म रूप से भगवान है ईश्वर सर्वभूतान हृदय से जुनतिष्ठति तिष्ठति वो अद्वितीय ब्रह्म है ब्रह्म सर्वम कलिदम ब्रह्म एक ही तत्व है जो पारमार्थिक स्वरूप है अपना स्वरूप है उसका ज्ञान साक्षात्कार हो जाने पर कोई धर्म अधर्म सुख दुख जन्म मरण है ही नहीं आत्मा में नित्य मुक्त है इसलिए आत्मा नित्य मुक्त है यदि कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो वास्तव मानेंगे तो उसका नाश नहीं हो सकता है उसकी निवृत्ति नहीं होगी आत्मा कर्ता आदि रूपस्येन महाकांक्षी स्तरी मुक्तता भारतीकर ने कहा यदि आत्मा कर्ता होता है तो मुक्ति नहीं मिलेगी वास्तव स्वरूप है तो नहीं स्वभाव भावानाम व्यावृते बतरवे आत्मा का स्वभाव यदि कर्तृत्व भूतृत्व तो होगा उसकी निवृत्ति नहीं होगी मुक्ति कैसे होगी आत्मा कर्ता होता है ही नहीं आरोपित है जड़ में कर्तृत्व नहीं है ठीक है जड़ करता नहीं किंतु शुद्ध चेतन करता नहीं जिसमें कर्तृत्व भूतृत्व दिखता है वो शुद्ध चेतन नहीं है जो दिखता है सब बैठे ये सब चेतन या जड़ है यहाँ बैठे जितने सब चेतन या जड़ है चेतन है दिखता है चेतन जो चेतन दिखता है वो शुद्ध चेतन नहीं है देहादि है उसमें चिदाभास के कारण चेतन जैसे लगता है बिंब चेतन व्यापक है वो दिखता नहीं दिखता है चिदाभास वो चिदाभास के संबंध से चेतन जैसे लगते हैं वो जड़ चेतन का तादात्म्य अध्यास होने से चेतन कहा जाता है लोक में उसको चेतन कहते हैं जहाँ जड़ चेतन का तादात्म्य अध्यास होता है जहाँ चिदाभास है शुद्ध चेतन दीवाल में भी है उसको कहते जड़ चेतन कोई कहता दीवाल को जड़ है उसमें शुद्ध चेतन रहेगा दीवाल के अंदर पत्थर के अंदर रहेगा शुद्ध चेतन होने पर उसको जड़ कहते हैं और आप में शुद्ध चेतन है क्या है दीवार में नहीं है क्या तो आप में क्या अधिक है आपको आप अपने को चेतन मानते हो दीवार को जड़ कहो तो हाँ वही चिदाभास को लेकर चेतन को लेकर के नहीं चिदाभास को लेकर के झूठे चेतन को लेकर के जिसमें जिसको लेकर के आप चेता अपने को चेतन मानते हो उसमें कर्तृत्व है आत्मा में नहीं है चिदाभास में ही बुद्धि चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में कर्तृत्व है शुद्ध आत्मा में नहीं है ओम सहना भवतु